आगे बनु पाथे, तापस बेस विराजत काथे, उभय बीचिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, बहुरी कहूँ छब जस मन बसए जन मधु मदन मध्यरत लसए उमा बहुरी कहूँ जिय जोरी जन बुध बेदो विधु हन सोही आगे श्री राम जी हैं पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो प्रभु पद रेख बीच बीच से धरत चरण मग चलत सभीता सिय राम पद अंक बराए लखन चलही मगु दाहिन लाए राम लखन सिय प्रीत सुहाए बचन अगोचर किमि कह जाए खग मृग मगन देख छवि हो दिए चोरी चित राम बटोही प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है अतः वह कैसे कही जा सकती है पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव भवमगुअगम अनन्दुत बिनु श्रम रहे सिहाय प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट कर मुक्त हो गए अजहु जासु उर सपने उकाओ बसहु हृदय लखन हो बसहु लखन सिय राम बटाओ राम धाम पथ पाई सोई पथ कबहु मुनि कोइ तब रघुबीर समित सिय जाने देख निकट बटो शीतल पानी तह फल खाए प्रातन हाय चले रघुराई आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आबसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले देखत बन सरसैल सुहाए बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए राम देख मुनि बासु सुहावन सुंदर गिरे कानन जल पावन शरण सरोज बिटप बन फूले गुंजत मंजो मधिपरस भूले खग मृग विपुल कोलाहल करही विरहित बैर मुदित मन चरही सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है सरोवरों में केवल कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं सुचि सुंदर आश्रम निरखे हर से राजीवन सुन रघुबर आगमन मुनि आगे आयले पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए